वासना या इच्छा का हल्का सा झोंका भी आत्मा की सूत्र दीवारों पर जैसे जैसे शिखर के करीब पहुंचती वैसे वैसे कठिन होती जाती मंजिल जैसे जैसे पास आती है वैसे वैसे भटकने की संभावना भी बढ़ जाती क्योंकि जितनी हो ऊंचाई उतने ही गिरने का डर है नर्क से गिरने का कोई उपाय नहीं क्यों उससे कोई नीची जगह नहीं लेकिन स्वर्ग से गिरने की सारी सुविधा है क्योंकि सब कुछ उसके नीचे है मुझ से भी गिरने का कोई उपाय नहीं क्योंकि मोक्ष के नीचे ऊपर दोनों तरफ कुछ भी नहीं है नरक के सब कुछ ऊपर है इसलिए नरक से कोई गिर नहीं सकता स्वर्ग से सब कुछ नीचे है इसलिए स्वर्ग से कोई भी गिर सकता है मोक्ष से गिरने का फिर कोई उपाय नहीं न बढ़ने का न गिरने का क्योंकि उससे नीचे ऊपर दोनों ही दिशाएं नहीं है साधक जैसे जैसे मोक्ष की तरफ पहुंचता है वैसे वैसे स्वर्गीय होता चला जाता है वैसे वैसे उसके सुख सूक्ष्म वैसे वैसे उसकी प्रतीति अत्यंत तरल शुद्ध वैसे वैसे उसका अनुभव बहुमूल्य नाजुक होता जाता है और जितना नाजुक होता है अनुभव जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही छोटी सी घटना भी उसे नष्ट कर डालती है जितनी मूल्यवान चीज है उतनी ही नाजुक हो जाती है और इस यात्रा में तो हम अपने को ही रोज नाजुक बनाते हैं संवेदनशील सेंसिटिव जरा सा झोंका सब तोड़ दे सकता है और जब हवा की आंधी उठती है तो सड़क के किनारे पत्थरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन वृक्षों की शाखाओं में लगे फूल झड़ जाते पत्थर अपनी जगह बने रहते हैं पत्थर नष्ट नहीं होते लेकिन फूल नष्ट हो जाते जरा सा झोंका हवा का फूल गिर जाते हैं फिर जितना हो नाजुक फूल उतने जल्दी गिर जाता है और जितनी ऊंची शिखा पर हो उतनी जल्दी गिर जाता है ये सूत्र इस संबंध में ही विचार नहीं है चौथे मार्ग विराग पर वासना या इच्छा का हल्का सा झोंका भी आत्मा की शुभ्र दीवारों पर पड़ने वाले स्त्री प्रकाश को हिला देगा चौथे द्वार विराग पर वासना का हल्का सा झोंका भी वो जो नए प्रकाश की झलक आ रही है उसे हिला देगा उस प्रकाश को डमाडोल कर देगा उस प्रकाश को ओझल कर देगा कंपित कर देगा और भीतर का प्रकाश कंपित हो तो आगे नहीं जाया जा सकता पीछे गिरना शुरू हो जाता है प्रकाश की स्थिरता ही आगे जाने का मार्ग है भीतर का प्रकाश जितना डमाडोल होता है उतने हम नीचे गिर जाते हैं जिस दिन भीतर का प्रकाश अकंप हो जाता है कुछ भी उसे कपा नहीं पाता कोई कपने की संभावना नहीं रह जाती उसी दिन हम परम स्थिति को उपलब्ध हो जाते तो भीतर की ज्योति मापदंड है कि वो कितनी कपती है कितनी ठहरी है वासनाग्रस्त जगत में छोटी मोटी वासनाओं से कुछ पता भी नहीं चलता क्योंकि आप इतने बड़े रोगों से भरे होते हैं कि छोटे रोगों का क्या पता चलेगा आपके भी अनुभव में होगा कि अगर बड़ा रोग आ जाए तो छोटा रोग भूल जाता है अगर पैर में कांटा गड़ा हो और कोई छुरी लेकर सामने खड़ा हो जाए आपको फिर कांटे का बिल्कुल पता नहीं चलता आपने काले ही वस्त्र पहन रखे हो और कोई कालक से आपको पोत डाले आपके वस्त्रों पर कोई पता नहीं चलता लेकिन जितने हो शुभ्र वस्त्र जरा सी धूल भी दिखाई पड़नी शुरू हो जाए पृष्ठभूमि जितनी हो शुभ उतना ही अशुभ भयंकर मालूम पड़ता है क्योंकि सब प्रतीतियां तुलनात्मक हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता है साधक और विराग के करीब पहुंचता है वैसे वैसे राग की छोटी सी झलक भी भयंकर तूफान की तरह मालूम पड़ती है और सब उखाड़ के रख देती क्योंकि पौधे विराग के अभी बहुत नए उनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है अभी वे बिल्कुल बच्चे हैं सुना है मैंने एक सूफी फकीर जुनेद जिंदगी भर रोता रहा अपने को पीटता था रोता था रास्तों से निकलता था तो अपने को खुद चांटे मारता था लोग उससे पूछते थे कि क्यों इतना पश्चाताप क्या तूने किया है पाप क्योंकि जैसा हम तुझे जानते हैं तुझसे ज्यादा पवित्र आदमी खोजना मुश्किल है और अगर तू इतना दुखी और पश्चाताप से भरा है तो हमारी क्या गति होगी और हम इतने पाप कर रहे हैं और हमें जरा भी पश्चाताप नहीं तूने पाप क्या किया ये गांव तुझे बचपन से जानता है न तूने कभी चोरी की न कभी क्रोध किया न किसी को गाली दी न किसी का अपमान किया तुझसे ज्यादा पवित्र आदमी पृथ्वी पर भी शायद दूसरा हो न हो लेकिन जुन्नत अपने को सजा देता रहा मरते वक्त उसके शिष्य हजारों थे वो इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कि अब तो बता दे कि सजा किसकी दे रहा था तू अपने को तो उसने कहा एक बार मेरे मन में ऐसा ख्याल आ गया था कि मैं बड़ा पवित्र हूं वही पाप हो गए और परमात्मा के सामने खड़े होकर मैं आंखें भी ना उठा सकूंगा क्योंकि मैंने एक पाप किया है कि मैं पवित्र हूं ये ख्याल मुझे एक बार आ गया था उसकी ही सजा दे रहा हूं लोगों ने कहा पागल हुए हो अगर इतने से पाप से तुम परमात्मा के सामने आंखें ना उठा सकोगे तो हमारा क्या होगा जुमने ने कहा तुम मजे से आंखें उठा सकोगे तुम्हारे पाप इतने हैं कि तुम्हें शर्म भी ना आएगी और शर्म भी कितनी करोगे मैं भी तुम जैसा होता तो कोई चिंता न थी बस वो एक अटक गया है शुभ्र वस्त्र पर वो काला दाग ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसे मैं भूल नहीं पाता उसकी ही पीड़ा है इसे ख्याल रखें कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं अंतर यात्रा में वैसे वैसे छोटी छोटी चीजें बड़ी मूल्यवान हो जाती क्षुद्र भी विराट की यात्रा पर फिर बड़ा विराट मालूम होने लगता है और जब तक उससे छूटना न हो जाए तब तक आप वापस फेंके जा सकते हैं मार्ग संकीर्ण है फिर ऊंचाई ज्यादा है और आप नए और नाजुक हैं इस यात्रा पथ पर जरा सी भूल भयंकर हो सकती है विराग पर वासना का हल्का सा झोंका भी आत्मा की शुभ्र दीवारों पर पड़ने वाले स्थिर प्रकाश को हिला देगा अंतकरण में जो तेरी उच्चस्थ आत्मा और निम्नस्थ आत्मा के बीच सेतु है जो वृत्तियों का महापथ है और जो अहंकार को झकझोर कर जगाने वाला है माया के भ्रांत सुखों के लिए राग या खेत की हल्की छोटी सी लहर भी बिजली की कौन जैसी भांसती लहर भी तेरे तीन पुरस्कारों को तुझसे छीन देगी जो तुमने श्रम से जीते विराग के द्वार पर खड़े होकर अहंकार की जरा सी झलक सब नष्ट कर देगी और विराग के द्वार पर अहंकार आता है रागी का अहंकार है विरागी का अहंकार है रागी का अहंकार बहुत स्थूल है साफ दिखाई पड़ता है विरागी का अहंकार बहुत सूक्ष्म साफ दिखाई नहीं पड़ता और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है जो शत्रु दिखाई पड़ता हो ज्यादा खतरनाक नहीं है उससे कुछ उपाय किए जा सकते हैं अदृश्य शत्रु बहुत खतरनाक है क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता कृष्णमूर्ति ने साधुओं को सन्यासियों को पायस इगोइस्ट कहा है पवित्र अहंकारी ठीक है तो वो डर है और अपवित्र अहंकार उतना खतरनाक नहीं क्योंकि वो जो अपवित्रता है वो भी तो पता चलती रहती है पवित्र अहंकार बहुत खतरनाक है क्योंकि पवित्रता में अहंकार बिल्कुल छिप जाता है जहर के चारों तरफ शक्कर की एक परत हो जाती और तब उस जहर को पी जाना बहुत आसान है अपवित्र अहंकार तो शुद्ध जहर है उसके आसपास शक्कर की बर्त भी नहीं उसको तो पीने वाले को पता भी चलता है पवित्र अहंकार का पता नहीं चलता धर्मों में जो संघर्ष चलता है वो पवित्र अहंकारियों का संघर्ष है शुद्ध जहर है लेकिन परत पर पवित्रता है त्यागी है कोई तो वो भी उतनी ही अकड़ से चलता उसकी अकड़ बहुत सूक्ष्म है भोगी भी उतनी अकड़ से नहीं चलता है जिसके पास धन है वो क्या अकड़ से चलेगा उसके मुकाबले जिसने धन को लात मार दी स्वभावता जिसके पास धन है जिसने धन को लात मार दी उससे छोटा है और धन तो बहुतों के पास होता है धन को लात मारना बहुतों की हिम्मत नहीं होती तो वो जो सब छोड़ दिया है उसे एक नई चीज पकड़ लेती है कि मैंने सब छोड़ दिया है त्याग भी भोग बन जाता है विनम्रता अहंकार हो जाती है और पवित्रता भी पाप बन जाती है विराग के क्षण में ये भाव पकड़ेगा कि मैंने छोड़ा दूसरे नहीं छोड़ पा रहे मैंने त्यागा दूसरे नहीं त्याग पा रहे मुझसे बड़ा त्यागी कौन मैंने संसार को लात मार दी जो इतना कठिन था अति कठिन को मैंने पूरा किया है ये मैं निर्मित हुआ सूत्र कहता है अगर ये मैं निर्मित हुआ तो मैं जो तीन द्वार तूने श्रम से पार किए थे तब क्षण खो जाएंगे तू वापस अपनी जगह खड़ा हो जाएगा जहां तू था इसमें क्षण की देरी न लगेगी जो श्रम से पाया है वो बिल्कुल आसानी से खोया जा सकता है ध्यान रखना श्रम से पाया हुआ जरूरी नहीं कि श्रम से ही खोया जाए जिस मकान को बनाने में वर्षों लगे हों उसे दिन भर में गिराया जा सकता है और ये जो भीतर का भवन है जिसको जन्मों में बनाया हो उसे क्षण में भूमिसात किया जा सकता है छोटी सी बात और सब नष्ट हो सकता है तो जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ही सूक्ष्म में विनाश की संभावना बढ़ जाती है जितना सृजन की संभावना बढ़ती है उतनी ही विनाश की संभावना बढ़ जाती है इसे ऐसा समझे कि आपकी सभी संभावनाएं साथ साथ बढ़ती हैं इस सूत्र को इस नियम को बहुत गहराई से पकड़ लें आप में एक ही दिशा नहीं बढ़ती साथ ही दूसरी दिशा भी बढ़ती है जैसे आप जितना सुख पाने में समर्थ हो जाते हैं उतना ही दुख पाने में भी समर्थ हो जाते हैं सुख के साथ दुख की क्षमता बढ़ जाती पशु बहुत दुखी नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि बहुत सुखी होने का उन्हें उपाय नहीं एक अमीर आदमी को जितना आप दुखी कर सकते हैं उतना गरीब आदमी को नहीं कर सकते क्योंकि अमीर आदमी ने सुख की क्षमता बढ़ा ली उसकी दुख की क्षमता भी बढ़ गई वो जो विपरीत है वो साथ साथ बढ़ता है वो किनारे किनारे चलता है आप एक को नहीं बढ़ा सकते वो दूसरा खाई की तरह हमेशा शिखर के पास मौजूद है जितनी आपकी नीति बढ़ती है उतनी अनीति भी आपके किनारे खड़ी है जितना आपका पुण्य बढ़ता है उतना पाप भी आपके किनारे खड़ा है पापी नहीं गिर सकता आप गिर सकते हैं जितनी हो श्रेष्ठता उतनी निकृष्टता का डर है जितना सृजन की क्षमता बढ़ती उतना विध्वंस भी बढ़ जाता है दोनों चीजें साथ चलती हैं दोनों विपरीत चीजें साथ चलती हैं जितना आपकी शांति बढ़ती है इस सुन के हैरानी होगी उतनी ही आपकी क्रोध की क्षमता बढ़ जाती है ये बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा और अगर हमने ऋषि मुनियों की कथाएं पढ़ी हैं जिनमें वो भयंकर क्रोधी हैं तो उसका कारण आपको समझ लेना चाहिए अगर दुर्वासा जैसे ऋषियों की कथा है तो उसका कारण है जितनी उनकी शांति बढ़ गई उतना ही उनके क्रोध की क्षमता बढ़ गई वो ना करें ये दूसरी बात है बचा ले जाए ये दूसरी बात है करें तो उन जैसा क्रोध फिर दूसरा नहीं कर सकता और उनका क्रोध परिणामकारी होगा आपका क्रोध परिणामकारी नहीं होता है इसलिए हमने ये मीठी बात सैकड़ों कथाओं में जोड़ी कि ऋषि का अभिशाप खतरनाक है आपके अभिशाप का कोई मूल्य नहीं क्योंकि आप तो अभिशाप देते ही रहते ऋषि देता नहीं ऋषि से संभावना ही हम नहीं मानते कि वो अभिशाप देगा लेकिन अगर कभी ऋषि से अभिशाप हो तो वो फलित होगा उसके उसको रोकने की कोई क्षमता फिर कहीं भी नहीं तो हमने ऐसी कथाएं हैं हमारे पास बहुत मूल्यवान बहुत प्रतीकात्मक कि ऋषि ने अगर साथ दे दिया तो फिर भगवान भी उसे बदल नहीं सकता उसे छेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से दिया गया है और जो आदमी इतनी ऊंचाई से गिरने को राजी हुआ है जो इतना खोरा है अपने अभिशाप के पीछे उसके अभिशाप का फल होगा जब आप अभिशाप देते हैं तो उसका कोई फल नहीं होता क्योंकि आप कुछ खो ही नहीं रहे आप दांव पर कुछ लगा ही नहीं रहे आपकी गाली नपुंसक है आपका आशीर्वाद भी व्यर्थ है आपका अभिशाप भी व्यर्थ है जब आशीर्वाद की क्षमता बढ़ती तब अभिशाप की क्षमता बढ़ जाती उस वक्त सावधान रहना जरूरी है समस्त धर्मों ने कहा है कि साधक को दूसरे के संबंध में बुरा विचार भूल के भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तत्क्षण परिणामकारी हो सकता आप करते रहो उससे कुछ हर्जा नहीं होता आपको होता होगा किसी और को नहीं हो सकता आप कितने सोचो कि फला आदमी मर जाए तो अच्छा कोई आपके सोचने से मरने वाला नहीं लेकिन ऋषि के मन में ये भाव आ जाए तो मृत्यु घटित हो सकती है क्योंकि ऋषि के मन में यह भाव आ नहीं सकता आ जाए तो ये घटित हो जाएगा क्योंकि ऋषि इस भाव के साथ नीचे गिर रहा है और बहुत सी ऊर्जा उसके नीचे गिरने से मुक्त हो रही रिलीज हो रही वो ऊर्जा आपकी मौत बन सकती है वो दांव पे अपने को लगा रहा है आप जब किसी को अभिशाप देते हैं दांव पे कुछ भी नहीं लगा सिर्फ मन का खेल ऋषि अपनी जिंदगी भर की कमाई शायद अनेक जन्मों की कमाई दांव पे लगा रहा है वो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है कि उसके गिरने में शक्ति है आपको पता है जितनी गति हो उतनी शक्ति हो जाती अगर एक छोटे से कंकड़ को भी हम प्रकाश की गति से फेंक सके तो दुनिया की कोई ताकत भी उसको रोक नहीं सकेगी वो सभी चीजों को छेद करके बाहर निकल जाए एक छोटा सा कंकड़ एक टुकड़ा रेत का अगर प्रकाश की गति से फेंका जाए तो उसके पास वही शक्ति होगी जो एटम बम के पास है बस गति के साथ शक्ति बढ़ जाती अगर बंदूक की गोली आपको मार डालती है तो सिर्फ उसके भीतर छिपी हुई बारूद ही नहीं है जिस गति से फेंकी जाती है वो गति है वही ऐसे धीमे से आपको फेंक के मार दे तो गोली नीचे गिर जाएगी कुछ होगा नहीं बारूद नहीं है असली चीज असली चीज गति कितनी गति से फेंकी गई जब ऋषि गिरता है तो उसमें गति होती बड़ी ऊंचाई से गिरता है जब आप गिरते हो तो जमीन पर धम से गिर जाते हो कोई गति नहीं होती जहां खड़े थे वहीं गिरते हो आपका अभिशाप गतिहीन है इसलिए दुर्वासा का खतरा है और वो कुछ कह दे तो फिर उससे बचने का उपाय नहीं क्योंकि वो कुछ कह के अपनी ताकत खो रहा है वो ताकत कहां जाएगी एक गोले की तरह उसकी ताकत आपकी तरफ आ रही है असली समस्त धर्मों ने कहा है कि इसके पहले कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ बढ़े उसे सील को साध लेना चाहिए नहीं तो वो खतरनाक है बुद्ध ने तो नियम बनाया था कि उनके भिक्षु हर प्रार्थना के बाद अनिवार्य रूप से ये प्रार्थना भी करें कि मुझे जो इस प्रार्थना से मिला है वो सारे जगत को बट जाए मेरे पास ना रहे इस भाव को वो गहरा करते जाएं कि जो भी मैं पाऊं अध्यात्म में जो भी शक्ति वो सबको बट जाए वो मेरे पास ना रहे वो मेरे लिए ना हो ये करुणा प्रार्थना के साथ साथ बढ़ती रहे तो बचाव रहेगा नहीं तो प्रार्थना अकेली किसी भी दिन खतरनाक हो सकती क्योंकि शक्ति हाथ में होगी और करुणा का कोई बोध नहीं होगा तो बुद्ध ने कहा है कि प्रार्थना से जो भी मिले तुम उसे रोज ही बांट देना उसे इकट्ठा ही मत करना वो परिग्रह भी मत करना नहीं तो किसी दिन शक्ति हाथ में होगी और खतरा पास होगा बारूद हाथ में होगी और आग भी पास होगी और जैसे जैसे शिखर पे बढ़ेंगे बारूद और आग करीब करीब आते जाएंगे ठेठ शिखर के पास पहुंच के बारूद और आग बिल्कुल पास पास होंगे उस वक्त बचाना कठिन हो सकता है पर जितना कठिन हो उतना ही बचाने का मजा भी है और जितना कठिन हो उतना रस भी है और जितना कठिन हो उतना ही उस कठिनाई से पार उठने में आप और बड़े शिखर पर स्थापित हो जाते यदि गिरते हैं तो खाई में पड़ जाते हैं अगर नहीं गिरते हैं तो शिखर बहुत करीब आ जाता है ध्यान रहे ये अनुपात में है जिस जगह से आप जितने नीचे गिर सकते हैं उस जगह से आप उतने ही ऊपर उठ सकते हैं ये अनुपात बराबर है अगर एक पहाड़ से इस आध्यात्मिक शिखर से आप हजारों मील नीचे गिर सकते हैं अगर भूल करें और भूल से अगर बच जाएं तो हजारों मील ऊपर उठ जाते हैं ये दोनों बातें सांस सांस है कहा जाता है कि महापुरुष भूल नहीं करते बिल्कुल गलत है महापुरुष छोटी भूल नहीं करते करते हैं तो महान भूल करते हैं लोग कहते हैं कि छोटे आदमी बड़े आदमी में यही फर्क है कि छोटा आदमी भूला करता बड़ा आदमी भूला नहीं करता बिल्कुल गलत छोटे और बड़े आदमी में ये फर्क नहीं छोटे और बड़े आदमी में यही फर्क है कि छोटा आदमी छोटी भूलें करता है बड़ा आदमी बड़ी भूलें करता है छोटा आदमी छोटी भूलें ना करे तो छोटा सा आगे बढ़ता है थोड़ा सा आगे बढ़ता है बड़ा आदमी बड़ी भूलें ना करे तो बड़ा आगे बढ़ता है आपकी भूल जितना आपको गिराती है उतनी आपकी न भूल आपको उठा सकती इससे ज्यादा नहीं हो सकता दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती चली जाती उस दूसरे का ख्याल रखना जो आपके साथ चल रहा है और जितने आप शक्तिमान हो रहे हैं उतना ही वो दूसरा भी शक्तिमान हो रहा है इस विराग के क्षण में जरा सा झोंका अहंकार को झकझोर के जगा देगा बिजली की कौन जैसी भासती छोटी सी हल्की लहर भी तेरे तीन पुरस्कारों को तुझसे तो छीन लेगी जो तूने श्रम से जीते क्योंकि तू जान कि उस नृत्य में कोई छूट नहीं है उसका नियम शाश्वत है उसमें कोई छूट नहीं है अगर आप बैलगाड़ी पर से गिरते हैं तो भी जमीन का गुरुत्वाकर्षण काम करता है लेकिन चोट उतनी लगती है जितनी ऊंचाई पर बैलगाड़ी में बैठे थे और जब हवाई जहाज से गिरते हैं तब भी वही नियम काम करता है गुरुत्वाकर्षण का लेकिन तब बचने का कोई उपाय नहीं क्योंकि आप बैठे हवाई जहाज में थे बैलगाड़ी में नहीं इसलिए बैलगाड़ी का चालक आंख बंद करके भी दोपहर में यात्रा करता है वहां कोई ज्यादा डर नहीं है और भटके भी तो बहुत नहीं भटक सकते हैं वहां भी पहुंचे तो भी मंजिल बहुत दूर नहीं होगी पहुंच ही जाएंगे वो जो बैलगाड़ी का चालक है सो भी जाता है तो बैल भी चला लेते आपके जागे होने की बहुत जरूरत नहीं दुकान आपके बैल भी चला लेते बाजार आपके बैल भी चला लेते आपकी इंद्रियां भी काम को कर लेती है जब आप अपने घर लौटते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि रास्ता कहां से कहां जा रहा है सोचने की भी जरूरत नहीं पैर ही मुड़ जाते हैं खड़े हो के सोचना नहीं पड़ता कि अब बाएं घूमू कि दाएं घूमू पैर ही मुड़ जाते हैं अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हाथ ही काम चला लेते हैं आंख को भी जरूरत नहीं होती मन को विचार को तो कोई जरूरत नहीं होती और आत्मा को जगने का तो कोई सवाल ही नहीं लेकिन जितनी ऊंचाई पर आप हैं उतना ही सजग होना पड़ेगा जो लोग अभी चांद पर भेजे गए हैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन सबको ध्यान और योग की शिक्षा देनी पड़ी रूस में पहली दफा ध्यान के प्रति उत्सुकता आई है अंतरिक्ष यात्रा के कारण क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को तो बिल्कुल ध्यान ही होना चाहिए नहीं तो जरा सी चूक इंच भर की चूक और अनंत का फासला हो जाएगा फिर दोबारा मिलने का कोई उपाय नहीं होगा चांद पर उतरने की घटना सिर्फ यांत्रिक विकास ही का परिणाम नहीं है ध्यान का भी उसमें इतना ही हाथ है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को पल पल का बोध रखना जरूरी है और एक पल की चूक सब चूक हो सकती है और जरा सा भटकाओ कि हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हमारे यात्री कहां गए और उनका क्या हुआ वहां भूल चूक नहीं चलेगी जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी भूल चूक से सावधान होना जरूरी है और भूल चूक उतनी ही महंगी हो जाती ऊंचा चढ़ने वाला खतरे अपने हाथ से मोल ले रहा है लेकिन खतरों के बिना कोई उपलब्धि भी नहीं और वो जो नियम है तू जान के उस नित्य नियम में कोई छूट नहीं है ये कभी मत सोचना कि तू छोड़ दिया जाएगा तू अपवाद हो जाएगा ये भ्रांति मन को पकड़ती कि इतनी सी भूल है परमात्मा क्षमा कर देगा जितनी ऊंचाई हो उतनी ही क्षमा असंभव हो जाएगी आपको क्षमा किया जा सकता है जीसस को या बुद्ध को क्षमा नहीं किया जा सकता आप इतनी भूलें कर रहे हैं कि क्षमा न हो तो आप जी ही नहीं सकते हैं क्षमा का मतलब केवल इतना ही है कि आप जहां खड़े हैं वहां भूल से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता आप जमीन पर ही खड़े बुद्ध आकाश में उड़ रहे वहां से गिरना खतरनाक है और जितनी आपकी योग्यता बढ़ती जाती है ये अस्तित्व आपसे उतनी ही ज्यादा योग्यता की मांग करता है ये कसौटी है सुना है मैंने कि ऐसा हुआ है एक बार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर बड़े कलाकार थे रविन्द्रनाथ के चाचा थे नंदलाल बसु उनके शिष्य थे और रविन्द्रनाथ के बाद भारत में उनका कोई मुकाबला न था और जब नंदलाल अविनीन्द्रनाथ के पास सीखते थे चित्र कला तो एक दिन रविन्द्रनाथ बैठ के गपशप करते थे अविनाथ से और नंदलाल कृष्ण का एक चित्र बना के लाए चित्र ऐसा अद्भुत था कि रविन्द्रनाथ ने कहा है कि मैंने ऐसा कृष्ण का कोई चित्र कभी नहीं देखा शायद अद्वती अवनीन्द्रनाथ ने लेकिन चित्र को देखा और चित्र को फेंक दिया बाहर मकान के और कहा नंदलाल इससे अच्छा तो बंगाल के पटीय कृष्ण का चित्र बना लेता बंगाल में वो कृष्णाष्टमी के समय दो दो चार चार पैसे में गांव के गरीब चित्रकार कृष्ण का चित्र बनाते हैं वो चित्रकार पटीय कहलाते कृष्ण पट बनाते तो उससे अच्छा वो बना लेते इससे ज्यादा अपमान और कुछ हो नहीं सकता दो पैसे का चित्र बनाने वाला पटिया ये भी कोई तू तो कृष्ण का चित्र बना के लाया जा पटियों से सीख रविन्द्रनाथ तो दंग रह गए और रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मुझे हुआ कि ये क्या कर रहे हैं रविन्द्रनाथ जहां तक मेरी समझ है इनका भी कोई चित्र इस चित्र के मुकाबले नहीं है पर वो गुरु हैं नंदलाल शिष्य बीच में बोलना उचित भी नहीं नंदलाल वापस चले गए वो चित्र जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहा अवनीनाथ बाहर गए चित्र को उठा के लाए उनकी आंख से आंसू टपकने लगे तब तो रविन्द्रनाथ और हैरान हुए उन्होंने कहा आप कर क्या रहे शिष्य आपका चला गया तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे भरोसा नहीं कि आपने भी कृष्ण का इससे सुंदर चित्र बनाया हो रविन्द्रनाथ ने कहा वो मैं भी जानता हूं तब बात और जटिल हो गई और रविन्द्रनाथ ने पूछा तो फिर इतना ज्यादा कठोर होने की क्या जरूरत थी उस गरीब लड़के पर उन्होंने कहा कि वो लड़का गरीब होता तो इतना कठोर में ना होता उसकी प्रतिभा अद्भुत है और अभी और संभावना उसे कसा जा सकता है अगर मैं कह दूं कि ठीक तो रुक जाएगा तुम्हें पता नहीं कि कितनी पीड़ा मुझे होती है उसको उसको मैं कह नहीं सकता ठीक उसको मैं कभी नहीं कहूंगा ठीक क्योंकि मेरा ठीक कहना उसकी हत्या है साधारण शिष्यों को तो मैं ठीक कह देता ये तो अद्भुत है चित्र इससे साधारण चित्रों में भी ठीक कह देता उनसे ज्यादा आशा भी नहीं है जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है वैसे वैसे अस्तित्व ज्यादा आशा करता है वैसे वैसे चारों तरफ से शक्तियां कसती जाती हैं कोई पीठ थपथपाने नहीं आता जितने आप ऊपर जाते हैं उतना ही अस्तित्व आपसे ज्यादा मांगता है जितने बड़े शिखर पे आप होते हैं उतनी अस्तित्व की मांग बढ़ती चली जाती है क्योंकि अस्तित्व आपके भीतर से उस सबको निकाल लेना चाहता है जो छिपा है जिनकी कोई योग्यता नहीं है वे क्षमा किए जा सकते हैं जैसी योग्यता बढ़ती है वैसे ही जरा सी भूल अक्षम्य हो जाती नंदलाल तीन साल के लिए नदारत हो गए अवनीनाथ जो भी आता उससे पूछते नंदलाल कहा है किसी को पता नहीं कि नंदलाल कहां चले गए तीन साल बाद लौटे तो पहचानना मुश्किल था वो गांव गांव बंगाल में घूमते रहे जहां जहां उन्हें पता लगा कि कोई पटिया है उसके पास जाके सीखते कि कृष्ण का चित्र कैसे बनाना तीन साल बाद जब लौटे तो उनकी हालत एक गरीब पटिया की हो गई थी उनको पहचानना मुश्किल था कि लड़का वही है अवनीनाथ बूढ़े हो गए थे उनकी आंखों में कम दिखाई पड़ता था लेकिन नंदलाल आके सामने खड़ा हो गया और नंदलाल ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझसे कहा अगर उस दिन आप ऐसा न करते तो मेरे भीतर जो छिपा था वो छिपा ही रह जाता आपकी कठोर करुणा के लिए धन्यवाद देने आए हम सब सोचते हैं कि करुणा कठोर नहीं हो सकती हम सोचते हैं अनुकंपा कठोर नहीं हो सकती कठोर नहीं होती उनके लिए जिनमें कोई योग्यता नहीं है उनको छोड़ा जा सकता है अस्तित्व उन्हें क्षमा करता है जैसे जैसे योग्यता बढ़ती अस्तित्व कठोर होता जाता है क्योंकि अस्तित्व करुणावान होता जाता है ये सारे शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये सब प्रतीक शब्द है इसका ख्याल रखना क्योंकि एक मित्र ने आज ही पूछा है कि आप कहते हैं परमात्मा की तरफ हाथ जोड़कर सिर झुका दें मुझे पता ही नहीं कौन परमात्मा है किसके प्रति हाथ झुकाऊं और जिसका मुझे पता ही नहीं और फिर वो परमात्मा मेरी मदद करेगा क्या सवाल इसका नहीं है कि परमात्मा का पता है या नहीं सवाल सिर्फ इसका है कि आपने हाथ जोड़े और सिर झुकाया ये बात मूल्यवान नहीं है कि किसके लिए झुकाया वो गौण वो बहाना है सिर्फ आप झुके यही मूल्यवान है परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि ही मदद करता होता तो कभी का कर देता आप ही अपनी मदद करेंगे लेकिन जितना आप झुकते उतनी आप अपनी मदद कर रहे हैं और आप झुक नहीं सकते बिना परमात्मा की धारणा के इसलिए कहता हूं झुको नहीं पता है उसका अज्ञात के लिए झुको यह भी पता नहीं है तो सिर्फ झुको भूल जाओ उसकी बात ही भूल जाओ सिर्फ झुको समर्पण किसके प्रति इसका मूल्य नहीं है समर्पण का मूल्य है झुक जाने का मूल्य झुका हुआ आदमी अनंत शक्तियों को पाने का हकदार हो जाता है अकड़ा हुआ आदमी अपने ही हाथ से बंद होता है उसे कोई शक्ति उपलब्ध नहीं होती परमात्मा तो बहाना है शब्द तुम्हें झुकाना असली बात है किस बहाने तुम झुक जाते हो ये गौण कोई बहाना खोज लो और झुको लेकिन बड़ा मजा है बिना बहाने के अकड़े रहते हो जब झुकने की बात आती हो पूछते हो कौन परमात्मा किसके लिए झुके अकड़ किसके लिए हो किस कारण अकड़े हो क्या है जिससे अकड़े हो ये कभी कोई नहीं पूछता कि मैं किस कारण अकड़ा हुआ हूं क्या है मेरे भीतर जिससे मैं अकड़ा हुआ हूं ये मिट्टी की देह से अकड़े हुए हो इस जीवन से अकड़े हुए हो जो अभी है और अभी नहीं हो जाए बुद्धि से अकड़े हुए हो क्योंकि दो दो चार हैं ऐसा जोड़ लेते हो किस बात की अकड़ है थोड़ा सोचो बजाय इसके कि किसके सामने झुके ऐसा सोचो कि किसके कारण अकड़ रहे हैं क्या है भीतर जिससे अकड़ रहे हैं और तब दिखाई पड़ेगा भीतर कुछ भी तो नहीं है जिसके कारण अकड़ रहे ये दिखाई पड़ जाए तो झुकना हो जाएगा फिर सवाल नहीं कि किसके आगे झुके और अगर थोड़ी सी समझ हो तो पता चलेगा अकड़ ही सब दुखों का कारण है और झुक जाना ही सभी सुखों का द्वार है क्योंकि झुका हुआ आदमी खुल जाता ऐसे ही जैसे कोई नदी में खड़ा है अकड़ के प्यास लगी और कहता प्यास लगी झुकना पड़ेगा झुकेगा हाथ की चुल्लू बनाएगा तो पानी चुल्लू में आ जाएगा कोई नदी कृपा नहीं करेगी आपके झुकने से ही नदी की कृपा संभव हो पाएगी आप अकड़े ही खड़े रहे कि कैसे झुके अगर नदी को देना है तो दे दे और ये भी शर्त क्या लगानी है अगर परमात्मा इतना बड़ा देने वाला है तो क्या शर्त लगानी कि झुको ये भी क्या छोटी शर्त लगानी कि झुको देना है तो दे दो नदी बहती रहेगी ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं देना चाहती देने न लेने का कोई संबंध नहीं जो झुकता है वो पानी पा जाता है जो नहीं झुकता वो प्यासा रह जाता है इस अर्थ में जब आपसे कहता हूं हाथ जोड़ के झुक जाए तो समझना है कि सब प्रतीक है मुझे भी पता है कि आपको परमात्मा का पता नहीं है पता ही होता है तो आप यहां आते क्यों और जब आपको पता ही चल जाएगा तब झुकिएगा तब झुकने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि पता ही तब चलता है जब आदमी पूरी तरह झुक ही गया होता है उसके पहले तो पता नहीं चलता अगर आप ये शर्त रखते हैं कि जब पता चल जाएगा तब झुकेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा आप झुक जाए पता का बिल्कुल ही विचार न करें झुकते ही पता चलना शुरू हो जाए महाप्रभु का पूर्णता के तथागत का जो अपने पूर्व तथागतों के चरण चिन्हों पर चलते चले आए हैं वचन है आठ घोर दुख सदा के लिए विदा हो जाते हैं यदि नहीं तो जान की तू ज्ञान को निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकता तथागत बड़ा कीमती शब्द है और जटिल भी बुद्धों के लिए तथागत शब्द का प्रयोग हुआ है समस्त बुद्धों के लिए जागृत पुरुषों के लिए तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने से पहले बुद्धों के चरणों पर चले जटिलता यह है कि चरण चिन्ह बनते नहीं उस लोक में कोई चरण चिन्ह नहीं बनते सभी बुद्ध अनूठे होते हैं और अपने ही जैसे होते हैं और किसी दूसरे जैसे नहीं होते किन्हीं दो बुद्धों के बीच किसी तरह की तुलना संभव नहीं जीसस बुद्ध है महावीर बुद्ध है गौतम बुद्ध है कृष्ण बुद्ध है सब जागे हुए पुरुष हैं दो में कोई तालमेल नहीं है कहा कृष्ण कहा महावीर कहा बुद्ध कहा जीसस क्या मेल है क्या तालमेल है चरण चिन्ह भी कहा एक से है जीसस सूली पर लटकते हैं ईसाई कहते हैं कि मनुष्यता के पापों का उद्धार करने के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं अपने को मिटा देते हैं ताकि मनुष्य ऊपर उठ सके ईसाई कहते हैं कि आदम का पाप था इसलिए मनुष्य विकृत हुआ है और जब तक आदमी दंडित न हो तब तक आदम की क्षमा नहीं किया जा सकता और सब आदम की संतानें आदम का ही विस्तार है इसलिए उनका पाप में भाग है आप अपने ही पाप के लिए जिम्मेवार नहीं मनुष्य मात्र के पाप के लिए जिम्मेवार है बड़ी कीमती बात है और उन मनुष्यों के लिए नहीं जो आज मौजूद है उन मनुष्यों के पाप के लिए भी जो कल थे परसों थे और कभी आगे होंगे मनुष्यता जिम्मेवार है तो किसी आदम ने भूल की सारी मनुष्यता जिम्मेवार हो गई तो किसी दूसरे आदमी को भूल का प्रतिकार करना पड़े और पूरा दंड भोग लेना पड़े तो जीसस अपने को कुर्बान कर देते हैं जो आज्ञा का उल्लंघन किया आदम ने जीसस अपने को परमात्मा की आज्ञा मान के समर्पित कर देते हैं मरने को राजी हो जाते इसलिए ईसाई कहते हैं जीसस जैसा बुद्ध कोई भी नहीं हुआ हम सोच ही नहीं सकते कोई जैन नहीं सोच सकता कि महावीर सूली पर लटकाए जाए क्योंकि जैन कहते हैं कि सूली तो घटित होती कर्मों के फल के कारण अगर कोई पाप किया हो महापाप किया हो तो ही सूली हो सकती है महावीर को सूली कैसे हो सकती जिसके सब कर्म छह छीण हो गए वही तो बुद्ध होता है जिसका कोई कर्म नहीं बचा वही तो बुद्ध होता है और जिसका कोई कर्म नहीं बचा उसको सूली कल्पना में भी नहीं आ सकता कि उसको सूली हो सकती अगर जैनों से पूछो या कर्म के सिद्धांत को मानने वाले से पूछो कि गांधी को गौटसे ने गोली मारी तो ऊपर से देखने पर तो गोट से जिम्मेवार है लेकिन कर्म के सिद्धांत से देखने पर गांधी कहीं ना कहीं जिम्मेवार होने चाहिए कुछ न कुछ गोट से को उन्होंने मारा हो कभी अन्यथा ये प्रतिफल कैसा तो ऊपर की व्यवस्था में तो गोट से जिम्मेवार है कानून की व्यवस्था में लेकिन कर्म के सिद्धांत की व्यवस्था में कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म के किसी न किसी तल में गांधी को जिम्मेवार होना चाहिए जैनों से पूछो तो वो कहेंगे कि महावीर के चरण में कांटा भी नहीं गढ़ सकता सूली तो बहुत दूर की बात है क्योंकि कांटा भी तभी गढ़ता है जब कांटे को तुमने कभी सताया हो बड़ा मुश्किल है कहा इनके चरण चिन्ह एक होंगे जीसस उदास है कहते हैं कि कभी हंसे नहीं ईसाई कहते हैं कि जीसस कभी हंसे नहीं क्योंकि हंसना भी कैसी क्षुद्र बात उदास है सारी मनुष्यता का दुख सारी मनुष्यता की पीड़ा इतना महानर्क जहां निर्मित है वहां जीसस हंसे और इधर कृष्ण है कि बांसुरी बजा रहे बहुत मुश्किल है कहीं कोई तालमेल नहीं बैठता इधर कृष्ण है कि बांसुरी बजा रहे हैं रास रचा रहे हैं नाच रहे हैं सोलह हजार पत्नियां हैं उनकी जीसस अविवाहित है पत्नी की बात ही सोचनी मुश्किल है जीसस के साथ इधर सोलह हजार पत्नियों का ख्याल जिन्होंने सोचा होगा बड़े अद्भुत लोग रहे होंगे और सोलह हजार जिसकी पत्नियां हो वो बुद्ध पुरुष होना ही चाहिए एक पत्नी पागल कर देती सोलह हजार पत्नी सिर्फ बुद्ध पुरुष ही इनके बीच हो सकता है कि पागल ना हो इससे बड़ी और कसौटी अस्तित्व तो नहीं ले सकता किसी की कि सोलह हजार पत्नियां किसी को दे दे एक एक पत्नी का अनुभव सभी को है किन्हीं किन्हीं को दो का तीन का भी है वो जानते हैं कि कैसा कैसी अड़चन हो जाती सोलह हजार हिम्मतवर लोग थे जिन्होंने सोची बात और कृष्ण इनके बीच भी बांसुरी बजा रहा एक ही पत्नी के साथ बांसुरी बजा के देखिए नाच रहा है ये कोई और ही जीसस से इसका कोई मेल नहीं महावीर से इसका कोई मेल नहीं ये सारा अस्तित्व एक नृत्य मालूम हो रहा है जैसे दुख ऊपरी है और व्यर्थ है दुख सिर्फ ना समझी है पाप पुण्य पश्चाताप सब ऊपरी बातें महोत्सव आंतरिक है गहरा है तथागत शब्द इसलिए समझने जैसा है तथागत का मतलब है सब बुद्ध पुरुष एक से ही है लेकिन बाहर से तो बड़े अनेक हैं ऊपर से तो उनको साथ रखना ही मुश्किल है कृष्ण को और क्राइस्ट को एक ही घर में ठहराए बड़ी मुश्किल होगी हाँ, क्राइस्ट सूली पे लटके और वहीं कृष्ण बांसुरी बजा रहे बड़ा मुश्किल होगा ऊपर से देखने पर तो बुद्ध पुरुषों में कोई मेल नहीं प्रत्येक बुद्ध पुरुष अद्वितीय अनूठा और अपने जैसा है लेकिन गहरे में वे एक ही चरण चिन्हों पर चले हैं इसलिए उन सबको तथागत कहा है गहरे में उनके चरण चिन्ह बिल्कुल एक है लेकिन उतनी गहरी आंख हो तो ही दिखाई पड़ सकती है ऊपर के आवरण का भेद है वस्त्रों का भेद है व्यक्तित्व का भेद है आत्मा का भेद नहीं है महाप्रभु का पूर्णता के तथागत का जो अपने पूर्वजों के चरण चिन्हों पर चलते चले आए इसलिए बुद्ध पुरुष सदा नया है और सदा पुराना भी नया है अगर आप उसको ऊपर से देखें और पुराना है अगर भीतर से जाने अत्यंत नूतन है मौलिक है और अत्यंत सनातन है प्राचीन है वो जो भी कह रहा है एकदम अनूठा है और वो जो भी कह रहा है वो सदा बुद्ध पुरुषों ने कहा है ये विपरीत दिखाई पड़ने वाली बातें अगर एक साथ समझ में आ जाए तो तथागत शब्द का अर्थ समझ में आएगा भीतर के लोक में बुद्ध और महावीर बिल्कुल एक जैसे क्या है उनकी एक जैसी स्थिति यहां हम इतने लोग बैठे हैं सब अलग अलग हैं ऊपर से चाहे एक जैसे भी हों क्योंकि शरीर एक ही जैसा है वस्त्र एक जैसे हैं ऊपर से तो बहुत सी बातें एक जैसी हैं लेकिन भीतर वो जो विचार चल रहे हैं वो सबके अलग अलग है वो भीतर का विचार सबको भिन्न कर देता है बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट महावीर उनके भीतर विचार नहीं है शून्य वो शून्य सबको एक जैसा कर देता है भीतर से उस शून्य की अभिव्यक्ति में भेद पड़ता है जब वो शून्य प्रकट होता है तो व्यक्तित्व की परतों से आता है जैसे कि हम प्रकाश जलाएं और हर प्रकाश के आसपास अलग अलग रंग के कांच के घेरे खड़े कर दें एक नीला कांच का घेरा हो एक लाल कांच का घेरा हो एक हरा कांच का घेरा हो और एक सा दिया जले और प्रकाश का रंग एक है वो भीतर जले लेकिन चारों घेरों के बाहर अलग अलग प्रकाश दिखाई पड़ेगा बुद्ध के भीतर जो प्रकाश चल रहा है और क्राइस्ट के भीतर जो प्रकाश चल रहा है वो एक है वे दोनों तथागत हैं वहां सब शून्य हो गया दो शून्य में कोई भेद नहीं होता दो विचारों में भेद होता है दो मनों में भेद होता है दो समाधियों में भेद नहीं होता हम अगर सब यहां शांत हो जाएं तो हमारे भीतर में फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा सब भेद ऊपरी है भीतरी कोई भेद नहीं है बुद्ध पुरुषों में हम में सब तालमेल ऊपरी है भीतरी बिल्कुल भेद है ऊपर से हम करीब करीब एक जैसे जीते भीतर बहुत भेद है इसलिए दो मित्र भी बनाना मुश्किल है जगत में क्योंकि दोनों में बड़ा भेद है भीतर के विचार कलह उत्पन्न करते दो बुद्ध पुरुषों को मिलाने की भी जरूरत नहीं है सुना है मैंने कि महावीर बुद्ध एक बार एक ही गांव में एक ही धर्मशाला में ठहरे और मिले नहीं बड़ा अशोभन मालूम पड़ता है मिलते तो अच्छा होता मनुष्यता का लाभ होता ऐसा भी नहीं कि मिलाने की कोशिश न की होगी लोगों ने बड़ी कोशिश की होगी और बड़े लोग परेशान भी हुए होंगे कि क्यों मिलते क्यों नहीं मिल लेना चाहिए हमारी समझ में बाहर है बात कि मिलने का कोई अर्थ ही नहीं क्योंकि भीतर इतने एक जैसे हैं कि किससे मिलना क्या मिलना क्या अर्थ भीतर दो शून्य है वो मिल भी जाए तो एक ही शून्य बनेगा दो शून्य से मिलकर दो शून्य नहीं बनते दो शून्य से मिलकर एक ही शून्य बनता है हजार शून्य भी मिला दो तो एक ही शून्य बनता है ऐसा नहीं कि हजार शून्य बन जाते शून्य का मतलब कि वो कोई इकाई नहीं है खालीपन है दो खालीपन मिलेंगे तो क्या होगा एक खालीपन हो जाए अगर बुद्ध और महावीर को हम पास बिठा दें तो वहां दो आदमी नहीं वहां एक आदमी हो जाए अगर हम सारे तथागतों को इकट्ठा कर लें तो वहां हजार तथागत नहीं होंगे वहां एक ही शून्य रह जाए इस अर्थ में तथागत को कहा जाता है कि वो अनूठा भी है और अपने पूर्वजों के चरण चिन्हों पर भी चलता है उन सब तथागतों का वचन है कि आठ घोर दुख सदा के लिए विदा हो जाए यदि नहीं तो जान की तो ज्ञान को निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकता अगर विराग के बाद भी तेरे दुख बने रहते हैं तो समझना कि तू चूक गया विरागी का दुख नहीं होना चाहिए रागी का दुख समझ में आता है क्योंकि राग जब पूरा नहीं होता तो दुख होता है राग जब असफल होता है तो दुख होता है राग में अपेक्षा है पूर्ति न होने पर दुख होता है पूर्ति हो जाए तो दुख होता है क्योंकि राग की अपेक्षा निरंतर विस्तीर्ण होती चली जाती विरागी को दुख नहीं होना चाहिए अगर विरागी को भी दुख होता है तो जानना कि तू चूक गया बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि सभी दुख सदा के लिए विदा हो जाते विराग अगर सही हो जाए और विराग के क्षण में अगर भूल से भटकाव ना हो जाए और अहंकार ना पकड़ ले और कोई सूक्ष्म वासना खेलना दिखाने लगे तो सभी दुख विसर्जित हो जाते और अगर तुझे लगे कि दुख विसर्जित नहीं हुए तो समझना कि तू चूक गया और निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकता विराग का सदगुण बहुत कठोर और क्रूर है यदि तू इस मार्ग का स्वामी होना चाहता है तो तुझे पहले से बहुत बढ़कर अपने मन और दृष्टि को घातक कर्म से मुक्त रखना है विराग का सदगुण बहुत कठोर और क्रूर क्रूर है वहां कोई अपवाद नहीं हो सकेगा निश्चित ही होना भी यही चाहिए जब सभी दुखों को छोड़ने के लिए कोई तैयार है सभी दुखों से मुक्त होने की आशा रख रहा है तो उसे कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा दुख छोड़ने की जो आशा रख रहा है सब दुख से बाहर हो जाने की जो चेष्टा कर रहा है उसे कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा वो कठोर परीक्षा क्या है वो कठोर परीक्षा दो चीजों के बीच में है एक तो कि दुखों से छुटकारा तब तक असंभव है जब तक वासना से पूर्ण छुटकारा ना हो सूक्ष्म वासना रह जाए तो सूक्ष्म दुख रह जाएंगे वासना होगी तो कहीं ना कहीं दुख होगा मांग होगी तो पीड़ा होगी चाह होगी तो कांटा चुभा ही रहेगा छाती में वो जो वासना के वस्त्र हम पहने हुए हैं उन सबको बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा वे ही हमें कसे हैं और दुख दे रहे हैं सुना है मैंने ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दर्जी को कपड़े बनाने को दिए थे बड़ी मुश्किल से सालों में पैसा इकट्ठा करके बड़ा बहुमूल्य कपड़ा खरीदा था दर्जी ने कपड़े भी बना दिए बड़ी देर लगाई बड़े चक्कर कटवाए आखिर एक दिन कपड़े बन के तैयार हो गए उत्सव का दिन कोई करीब आ रहा था और नसरुद्दीन बहुत खुश था वो कपड़े लेने गया लेकिन कपड़े पहन के बड़ी मुश्किल में पड़ गया बहुत उदास हो गया उसने कहा कि तुमने क्या किया बर्बाद कर दिया सारा कपड़ा ये कालर तो देखो कि मेरे सिर तक जा रहे उस दर्जी ने कहा इसमें कालर का कसूर नहीं थोड़ा सिर को ऊंचा करो उसने खींच के नसरुद्दीन का गर्दन सीधी कर दी गर्दन ऊपर हो गई लेकिन गर्दन तो ऊपर हो गई पर फंस गई भीतर अब वो नीचे ना कर सके क्योंकि वो कालर उसने कहा और ये एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा उसने कहा तुम्हारा शरीर ही गड़बड़ तो मैं क्या कर सकता हूं जरा इस हाथ को आगे खींचो तो उसने एक हाथ खींच के आगे कर दिया और नसरुद्दीन ने कहा कि नीचे जो कमीज है ये नीचे तक पहुंच पूरी नहीं पहुंच रही तो उसने कहा थोड़ा आगे झुको तो नसरुद्दीन आगे झुक गया एक पजामे की टांग लंबी थी एक की छोटी थी और वो ठीक करता गया और नसरुद्दीन बिगड़ता गया कपड़ा ठीक होता चला गया और नसरुद्दीन की दशा बड़ी विकृत हो गई वो अष्टावक्र की हालत में हो गया आठ जगह से झुक गया और दर्जी ने कहा जरा आईने में तो देखो गांव की सारी सुंदरियां पागल हो जाएंगी महीनों की मेहनत है मेरी इन कपड़ों पर नसरुद्दीन ने देखा हालत बड़ी विचित्र थी लेकिन इस आशा से कि सुंदरियां पागल हो जाएंगी वो खुश हुआ उसने कहा क्या कहते हो दर्जी ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत कभी किन्हीं वस्त्रों पर नहीं की नसरुद्दीन निकला तो अपनी मुद्रा और आसन को संभाले हुए एक हाथ लंबा तो लंबा किए गर्दन ऊंची तो ऊंची किए एक पैर छोटा तो भीतर सुकोड़े एक पैर लंबा तो आगे किए वस्त्र छोटे तो आगे झुका उस आशा में कि सुंदरियां पागल हो जाएंगी सभी की गति ऐसी है अपनी अपनी मुद्रा संभाले वासना में जीने वाला आदमी अष्टावक्र हो जाता घर की तरफ चले इस आशा में कि अब देखे कौन सुंदरी पागल होती कई लोगों ने चौंक के जरूर देखा स्त्रियों ने भी चौंक के देखा ऐसे विचित्र आदमी को कौन चौंक के न देखे नरसुद्दीन समझा कि दर्जी ठीक ही कह रहा है एक अजनबी आदमी ने जो नसरुद्दीन को नहीं जानता था क्योंकि बाकी गांव के लोग तो जानते थे कि इसमें कुछ अनूठा नहीं है इस आदमी से ऐसी ही आशा एक अजनबी ने जो गांव में नया नया आया था उसने कहा कि ठहरो नसरुद्दीन तुम्हारे दर्जी का पता क्या है किसने बनाया ये नसरुद्दीन ने कहा कि क्या मेरे दर्जी का पता पूछ के क्या करोगे उसको लगा कि यह आदमी प्रतियोगिता करना चाहता है उस अजनबी ने कहा कि नहीं जानना चाहता हूं तुम्हारे दर्जी का पता क्योंकि तुम जैसे अष्टावक्र के लिए जिसने कपड़े बना दिए उसकी प्रतिभा का मुकाबला नहीं he must be a genius इतना इर्छा तिरछा शरीर और उसने कपड़े बिल्कुल ठीक ठीक बिठा दिए आश्चर्य उसके मैं दर्शन करना चाहता उसको पता नहीं कि बेचारा अष्टावक्र नहीं है कपड़ों की वजह से अष्टावक्र आपकी जो विकृत दशा है वो वासनाओं का जो घेरा है चारों तरफ कोई वासना टांग खींच रही कोई वासना सिर उठा रही कोई वासना एक हाथ खींच रही अपने को संभाले बड़ी कठिन मुद्रा में योगी भी क्या ऐसे आसन करेंगे जो आप कर रहे हैं और संभाले आशा कि कोई ना कोई वासना इस ढंग से शायद पूरी हो ये जो मनुष्य की दशा है और जन्मों जन्मों तक आदमी अष्टावक्र रहा है इसलिए विराग का सदगुण बहुत कठोर और क्रूर मालूम पड़ता है क्योंकि आपके अंग अंग फिर से सीधे किए जाने आपकी विकृत दशा को फिर से सामान्य करना है जो आप झुक गए हैं जगह जगह से वहां वहां के जोड़ कठोर हो गए उनको जोड़ों को तोड़ना है और आदतें बन गई है मजबूत वासना की कि विराग के द्वार पर भी खड़े होकर वे वासना की आदतें आपको अपने ढंग से झुकाती हैं इसलिए क्रूर और कठोर मालूम पड़ता है जैसे किसी आदमी के शरीर की सब हड्डियां गलत ढंग से जुड़ गई हो तो फिर उनको पुनः तोड़ना पड़े और फिर से जोड़ना पड़े और जोड़ के बाद पलस्तर बांधने पड़े कि कहीं वे फिर गलत आड़ी टेढ़ी ना जुड़ जाएं करीब करीब विराग को यही काम करना पड़ता है क्योंकि आपकी जन्मों जन्मों में सारी व्यवस्था गड़बड़ जुड़ गई है जो जहां होना चाहिए वहां नहीं है और जहां नहीं होना चाहिए वहां है जिन अंगों का रूप आप समझ रहे हैं जैसा आपके पास है वो उनका स्वाभाविक रूप नहीं है परवर्टित विकृत रूप है सब चीजें विकृत हो गई राग ने सब विकृत कर दिया है और राग की दौड़ में आदमी विकृत होने को तैयार है सिकंदर अफलतून का शिष्य था अफलतून से वो दर्शन सीखता था लेकिन सिकंदर था सम्राट और अफलातून तो गरीब दार्शनिक था एक दिन सिकंदर ने उससे कहा कि तुम घोड़ा बन जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करना चाहता हूं तो अफलातून को उसने घोड़ा बना दिया जैसे बच्चे बना लेते और अफलातून पर सवारी की उसके दस पांच दरबारी जो मौजूद थे उनको उसने कहा कि देखो ज्ञानी की दशा ये ज्ञानी मुझे सिखाने चला है तो अफलतून ने कहा कि मेरी ही वासनाओं की वजह से मेरी दशा है कि मैं तुम्हारा घोड़ा बनाऊ मैं तुम्हें ज्ञान सिखा के भी सौदा ही कर रहा हूं उससे भी मैं कुछ पाना ही चाहता हूं वो पाने की चाह ही इस हालत में ले आई कि तुम मेरे सिर पर बैठ गए मेरी चाह ने ही मुझे घोड़ा बना दिया तुमने नहीं तुम क्या कर सकते हो मेरी वासना ने ही मुझे नीचे गिराया तुम मुझे नीचे नहीं गिरा सकते हो इस जगत में जो भी आपकी दशा है वो आपकी ही वासना के कारण है और इसलिए विराग बहुत कठोर मालूम पड़ता है क्योंकि वो आपकी पूरी दशा को तोड़ेगा आपको पुनः निर्मित करेगा आपको नष्ट करेगा तोड़ेगा और नया निर्माण करेगा वहां अगर जरा सी भी पुरानी आदत प्रवेश कर गई तो आपने इस द्वार तक जो भी उपलब्धि की है दान सील शांति वो सब खो जाएगी और आप वापस उस जगह खड़े हो जाएंगे जहां से आपने यात्रा शुरू की थी इसलिए विराग के साथ अति सावधान होना जरूरी है तुझे अपने को शुद्ध आलय परम सत्ता से परितृप्त कर लेना है और निसर्ग के आत्मभाव के साथ एक हो जाना है इसके साथ एक होकर तू अजय है पृथक रहकर संवृत्ति की क्रीड़ा भूमि बन जाता है जो संसार की समस्त भ्रांतियों का मूल स्रोत है शुद्ध आलय परम सत्ता के साथ अपने को परितृप्त कर लेना है वासना का अर्थ क्या है वासना का अर्थ है जो मिला है उससे हम तृप्त नहीं जो है उससे हम तृप्त नहीं हम अस्तित्व से कहते हैं कि नहीं इतना काफी नहीं ये और चाहिए ये और चाहिए ये और चाहिए अस्तित्व से हमारी मांग है कि हम तृप्त होंगे तब जब ये सब हो जाए अस्तित्व ने जो दिया है उससे हम राजी नहीं और अस्तित्व ने सब दिया है जीवन दिया है और जीवन के अनूठे रहस्य दिए और जीवन की बड़ी गहराई दी और जीवन का परम आनंद छिपा रखा है भीतर आपके लेकिन वो खुलेगा तब जब आप राजी हो जाएं अस्तित्व से आप तो देखने की फुर्सत ही नहीं कि अस्तित्व ने क्या दिया है आप तो मांग किए जा रहे हैं कि ये दो ये दो ये दो इस देने की मांग में वो छिपी गया है जो दिया ही हुआ है और आपको पता नहीं जो आप मांग रहे हैं वो कुछ भी नहीं है जो आपको मिला ही हुआ है उसके सामने जो आप मांग रहे हैं वो कुछ भी नहीं एक बहुत अरबपति महिला ने एक गरीब चित्रकार से अपना चित्र बनवाया पोर्ट्रेट बनवाया चित्र बन गया तो वो एक महिला अपना चित्र लेने आई वो बहुत खुश थी चित्रकार से उसने कहा कि क्या इसका पुरस्कार दू चित्रकार गरीब आदमी था गरीब आदमी वासना भी करे तो कितनी बड़ी करे मांगे भी तो कितना मांगे हमारी मांग सब गरीब आदमी की मांग है परमात्मा से हम जो मांग रहे हैं वो क्षुद्र व्यर्थ है जिससे मांग रहे हैं उससे ये बात मांगनी नहीं चाहिए तो उसने सोचा मन में कि सौ डॉलर मांगू दो सौ डॉलर मांगू पांच सौ डॉलर मांगू हजार डॉलर मांगू फिर उसकी हिम्मत थकने लगी इतना देगी नहीं देगी फिर उसने सोचा कि बेहतर ये होगी इसी पे छोड़ दू तो शायद ज्यादा दे डर तो लगा मन में किसी पे छोड़ दू पता नहीं दे या ना दे या कहीं कम दे और एक दफा छोड़ दिया तो फिर तो उसने फिर भी हिम्मत की उसने कहा कि आपकी जो मर्जी तो उसके हाथ में जो उसका बैग था पर्स थी उसने कहा अच्छा तो ये पर्स तुम रख लो ये बड़ी कीमती पर्स पर्स तो कीमती थी लेकिन चित्रकार की छाती बैठ गई कि पर्स को रख करूंगा भी क्या माना कि कीमती है और सुंदर है पर इससे कुछ आता जाता नहीं इससे तो बेहतर था सौ डॉलर मांग लेते हैं तो उसने कहा कि नहीं नहीं पर्स तो मैं क्या करूंगा आप तो सौ डॉलर दे दें तो उसने कहा तुम्हारी मर्जी उसने पर्स खोली उसमें एक लाख डॉलर थे उसने सौ डॉलर निकाल के चित्रकार को दे दिया पर्स लेकर वो चली गई सुना कि चित्रकार अब तक छाती पीट रहा रो रहा मर गए मारे गए अपने से ही मारे गए आदमी करीब करीब इस हालत में परमात्मा ने जो दिया है वो बंद है छिपा है और हम मांगे जा रहे हैं दो दो पैसे दो दो कौड़ी की बात और जीवन की जो संपदा हमें दी है उस पर्स को हमने खोल के भी नहीं देखा है स्वीकृति अस्तित्व का स्वीकार ये अर्थ है परितृप्ति का जो मिला है वो जो आप मान सकते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा है लेकिन मान से फुर्सत हो तो दिखाई पड़े वो जो मिला है भिखारी अपने घर आए तो पता चले कि घर में क्या छिपा है वो अपना भिक्षा पात कर लिए बाजार में खड़े वो घर धीरे धीरे भूल ही जाता है भिक्षा पात्र ही हाथ में रह जाता इस भिक्षा पात्र को लिए हुए भटकते भटकते जन्मों जन्मों में भी कुछ मिला नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं तुझे अपने शुद्ध आलय से परितृप्ति कर लेनी है परम सत्ता से और निसर्ग के आत्मभाव के साथ एक हो जाना मांग छोड़ ये मांग ही निसर्ग से तोड़ती है ये जो है उसके साथ राजी हो जाए राजी होते ही रहस्य खुलने शुरू हो जाते क्योंकि आंख तब आगे मांगने के लिए नहीं उलझती खुल जाती मुक्त हो जाती फिर हम देख सकते हैं जो है इसके साथ एक होकर तू अजय फिर तेरी कोई पराजय नहीं पृथक रहकर तू समवृत्ति की क्रीड़ा भूमि बन जाता है जो संसार की समस्त भ्रांतियों का मूल स्रोत समृद्धि का अर्थ है माया जैसा शंकर ने कहा कि दो तरह के सत्य हैं पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य वैसा बुद्ध ने कहा कि दो तरह के सत्य हैं पारमार्थिक सत्य और संवृत्ति सत्य संवृत्ति सत्य का वही अर्थ है जो शंकर की भाषा में माया का जैसे ही आदमी ने मांगा कि वो माया के जगत में प्रवेश कर गया मांग के साथ ही आप भिखारी हो गए अब आप सपनों में भटकेंगे मांग स्वप्न का द्वार है जैसे आपने मांगना बंद किया आप सम्राट हो गए माया के बाहर हो गए जो है पारमार्थिक सत्य वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा और जब तक हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए तब तक हम स्वप्न निर्मित कर रहे हैं तब तक हम माया में जी रहे हैं about the Tratak meditation. In the night, when we are doing Tratak, is staring with unblinking eyes towards me, with hands raised jumping, crying the mantra who. What basically we are doing, what we are doing, and what is the inner process, and what is going to happen through it. The first thing, when you stare with unblinking eyes, your energy becomes concentrated. Eyes are the doors from where you move out or in. Just like breathing. The breathing goes out and then comes in and then goes out and comes in. You exhale and inhale. in the same way you exhale and inhale consciousness through the eyes this has to be deeply understood one of the secrets of yoga just as through nostrils you are exhaling inhaling breath through eyes you are inhaling exhaling consciousness That's very subtle. The consciousness is filled all around you as just as breath is there all around you, air is there, oxygen is there. And you cannot be alive if you are not breathing. And you cannot be more conscious if you are not aware of a subtle breathing of consciousness through the eyes. Concentration of the eyes makes you aware of this. Not only aware, but a master of it. And once you know the secret how to breathe consciousness through the eyes, then you can accumulate more consciousness within you. More conscious, you will be more alive. More conscious, you will be more alert. More conscious, new doors of perception will open. Have you ever noticed the fact that all over the world we have called those who have known the truth, the seers, drashta, those who have seen. In India, we have called the whole phenomena darshan seeing. What does it mean? Darshan is not philosophy. Herman Hesse has coined a new word to translate darshan. He calls it philosia. Philosophy means love of thinking, love of inquiry. Philosia means love of seeing, not of thinking. Philo means love, Sia means to see. Darshan, seeing, perception has been used for those who have known, realized with eyes. It is deeply related you can breathe consciousness through the eyes. Any concentrated staring makes your eyes open and you can be filled with more consciousness. And when I say stare at me, I mean other things also. When you are staring at me, I can communicate with you deeply, without words. When words are used, it is an indirect communication. And nothing is certain about words. You may not understand whatsoever is being said, or you may misunderstand and the possibility is always of misunderstanding because when i say something my meaning is not traveling to you only my word the content is not reaching to you only the container and then you will supply the content i say god the word travels towards you you hear the word god what was my meaning? My meaning remains with me. The word comes to you, the container, without the content, vacant, and you will fill the container. You will give meaning to it. That meaning will be yours, not mine. And there is no way to convey truth through words. Only misunderstanding can be conveyed. language is basically a distortion and nothing can be done about it it is so but there are methods in which a direct communication is possible when you are staring at me a movement is possible when your eyes have become fixed unblinking and you are sucking consciousness. The flow of consciousness is wider, more vital then I can convey something through that current directly. Mind will not be involved then. It will go directly to you. There will be no interpretation. those waves of consciousness can be used as a vehicle. Then you are receiving with his staring eyes. And I ask you to go on jumping. Why? For a particular reason. When you jump, your energy moves fast within. When you are jumping, your energy in, is in movement. It circulates more. Your life energy circulates just like blood. It is a subtle circulation. If you have heard about Chinese acupuncture, then you can understand it more. They say in the body the vital energy flows. And there are points in the body, 800 points, from where that energy can be contacted. And when you are ill, a particular contact point of your body has become non-functioning. It is not in contact with the universal energy. The contact has to be restructured. The contact has to be renewed. And just by pushing are striking stroking, massage are by pins to hammer that small point of energy to make it alive a particular disease disappears every disease comes according to acupuncture because you are not in contact with the universal energy around you the contact is missing in your body just as blood circulates subtle energy circulates your vitality circulates so i ask you to jump in that jumping the energy is circulating more just like blood is circulating more in that jumping your every cell of the body becomes more alive your 800 points of contact with the universal energy are more alive and vital more receptive open then even without the eyes i can contact with your other centers even with a blind man, then communication is possible. But eyes are the focal points. No other point is so great, big. So use eyes, but also use your whole body energy circle to make it alive. And then I ask you to go on repeating the mantra who loudly this is to hit your sex center within. Because sex center is the source of all energies. And if the source is not hit, nothing great is possible, no transformation is possible. So three things. One, with staring eyes, you are sucking consciousness. I can communicate through that sucking. Secondly, by jumping, the life energy circulates more and you are deep in deep contact with the universal force. I can communicate through that also. And thirdly, your sex center is hit by the mantra hook. And sex is the most vital energy point, the source of all energies. With that hitting, the sex center opens within. The sex center can open in two ways. One is opening without. What happens when you become attracted to the opposite sex? Your center opens towards the opposite sex. It opens outward. Your energy starts flowing outward. Even if it was just an imagination and the other is not even aware, you are losing energy. Don't be confused and don't think that semen is the sex energy. Semen is just the vehicle not exactly the sex energy just the vehicle of sex energy not sex energy just the material part of it not the real psychic energy so when you become attracted to the opposite sex you are not losing semen but you are losing the energy the energy is dissipated Whenever you are thinking about sex, you are dissipating energy through imagination, but it is moving out. When you hit the sex center from within by who? I'm not using om because of this point. Because when you say om, only the heart center is hit. Om cannot move deeper than the heart. But Om was used in past days because man was more simple, more centered at the heart, less centered at the sex. Now the quite there are so many changes. A man is quite different. Now he is more centered near the sex than at the heart. Om has become less useful. Who goes directly and hits. Say loudly who and you will feel your sex center has been hit from within. This constant hammering within, when I am communicating, when your eyes are staring at me, you are concentrated towards me, your whole body jumping and alive, in deep contact with the cosmic forces. If you hit your sex center in the right moment, in this moment, it is broken from within and energy comes up, rushes up. And when sex energy rushes up, not semen, remember, sex energy, the spiritual part of semen, just like you have a body and a soul the semen's body is material and the soul is sex energy the energy rushes upwards it passes through your spine it moves through your seven centers and comes to the last center sastra. this passing rush this flood of energy cleanses you completely your every center is cleansed, becomes fresh, alive, moving. And when this energy reaches to the last, the Sastra, you are a different man. With each center passing, you are a different man. Gurdjieff has talked about seven men. He says man number one, man number two, man number three. If you had gone to Gurdjieff, and he was one of the greatest masters of this age, and if you had asked him about man, he would immediately have asked about what man. Tell me the number. Number one, number two, number three. Because with man, the word man is meaningless. There are seven types of man. So if you are asking about man number one, my question will be, answer will be different. Asking about man number two, the question will be different. About whom you are asking. Seven chakras. With each chakra you are a different man. With the first chakra sex center, you are just an animal, just an animal. Just above it, but not far away just on the boundary. Below you is the animal world. Above you is the world of humanity, and you are just on the boundary. That's why religions became so much against sex, because that is the highest point for animal and lowest for man. And if you remain centered at the sex center, then you are only the highest animal, nothing more. with the energy moving to the second center, you become man number two. New qualities develop in you. Energy moving to the third center, again, more new dimensions become open to you. And when the energy comes to the last sastrar, you transcend humanity. You are no more man. And unless man transcends humanity, he cannot find the ultimate. Man must transcend himself, only then he is fulfilled. Nietzsche has said that the last day, the worst day, will be the day when man forgets transcending himself. Man is just an arrow. If you remain on the bow, you are useless. An arrow remaining on the bow is useless. Unless you leave the bow, You are not an arrow. Man at the sex center is just arrow and a bow. Yet the journey has not started. Ready to start, but never starting. This meditation, night meditation, trantic meditation, is for all these things. I am trying to push your arrow to leave the bow. And once you leave the bow, you enter a different world. Now get ready for the morning meditation. सुबह के ध्यान के लिए तैयार हूं